चालीसवा श्लोक तक तो विचार हो गया इकतालीस श्लोक के कुछ अवतरण भाष्य के विचार हुआ था जिसमें अवतरण भाष्य में कहा था पूरे के पूरे सारा संसार सर्व संसार तीन भाग में विभक्त है संसार क्रिया कारक फल कर्म करने वाले करता है कि कारक जो कर्म का निष्पादन करने वाले कारक और फल रूप तीन रूप में होता है क्रिया माने कर्म है उसको करने वाला जो कर्ता आदि कारक होंगे जिन जिनसे कर्म संपन्न होगा कारक और फल तीन रूप में संसार विभक्त है और सबके सब अनर्थ है ये जीवात्मा को अनर्थ में डालने वाला संसार है ये कहा था सर्व संसार क्रियाकारक फल लक्षण फलस्वरूप है क्रियाकारक फलस्वरूप सारा संसार का स्वरूप यही है तीन भाग में विभक्त पाया जाता है संसार सत्तरदश तमो गुणात्मक त्रिगुणात्मक है सारा संसार जो प्रकृति स्वरूप सतुगुण तो रजगुण तमगुण है उसी के कार्य होते हैं सारा संसार तो तदरूप है जैसे मिट्टी से बना हुआ घट मिट्टी रूपी है मिट्टी का रूपी होता है घट इस प्रकार गुणात्मक है संसार त्रिगुणात्मक है अविद्या परिकल्पित वास्तव में संसार है भी नहीं आत्मा में संसार है भी नहीं सुसुप्ति आदि अवस्था में पाया नहीं जाता अज्ञान से कल्पित है संसार जागृत स्वप्न भी संसार वास्ता है सुसुप्त में संसार का बीज है संसार तो नहीं बीज है अज्ञान है विद्या है उसका उसके ऊपर की अवस्था में समाधि आदि में पहुंचने पर संसार है ये कल्पिता है न होता हुआ दिखना यही है समूलो और अर्थ इसके मूल के सहित संसार अर्थ मूल क्या है अविद्या अविद्या के सहित संसार अनर्थ का कारण होता है अनर्थ उक्त ये कहा अभी तक कहा संसार अनर्थ है और पंचदश अध्याय में वृक्ष रूप की कल्पना करके कहा संसार अनर्थ है करके ऊर्ध बोलो बोलो साख इत्यादि इत्यादि के द्वारा कहा तम संसार को काटने का क्या साधन बताया पंचदश अध्याय बताया काटना है वृक्ष रूप में कहा था संसार एक वृक्ष रूप में है उसको काटने के साधन क्या असंग शस्त्र असंगता रूपी शस्त्र इसी से करता है संसार कहा असंग शस्त्र दृढ़ रसित्व कभी कभी असंगता आने से काम न चले दृढ़ मजबूत चाहिए असंग असंगता रूपी शस्त्र कभी कभी हम जब सत्संग में बैठते हैं स्वाध्याय आदि में बैठते हैं तो हमारी भावना होती है मैं अलग हूं असंगता दिखती कभी कभी किंतु मजबूत नहीं है थोड़ी देर में सत्संग से उठे फिर जो कहते हो अहम मनुष्य में आ जाते हैं दृढ़ नहीं है असंग शस्त्र दृढ़ चितर तो मजबूत शस्त्र चाहिए इसको काटने के लिए उसके बाद संसार को काटे वैराग्य के द्वारा असंगता शस्त्र के द्वारा उसके बाद क्या करना तथा पदम तत्परिमार तभी तरीका उसके बाद उस स्थान को ढूंढना चाहिए जहां जाने के बाद वापस नहीं होता तथा पदम तत्परिमार तत्म इसमें कथा न निवर्तन हो गया जहां जाने के पश्चात पहुंचने के बाद दोबारा लौटता नहीं है स्थान को ढूंढना चाहिए संसार वृक्ष को वैराग रूपी शस्त्र से काटने के बाद असम रूपी शस्त्र भी काटने के बाद ये कहा था तो तत्र सर्वस्व त्रिगुणात्मक सारा संसार त्रिगुणात्मक होने से सत्वर गुण रजगुण तमुल होने से संसार कारण निवृत्ति अनुपत हो संसार के निवृत्ति का कारण क्या कोई साधन नहीं दिख रहा है सारा का सारा त्रिगुणात्मक है और गुणों को नाश करने के लिए कोई हमारे पास साधन नहीं क्यों पुत्र गुणात्मक के सारे सारे गुणात्मक ये सब तो किससे विरोधी कोई है ना सब गुण वाले हैं किससे काटेंगे इनको परिस्थिति है तत्र त्रिगुणात्मक सारा संसार क्रिया रूप में देखो कारक रूप में देखो फल रूप में देखो त्रिगुणात्मक है वो त्रिगुण स्वरूप होने से संसार कारण निवृत्ति अनुपत्त हो संसार के कारण जो अविद्या उसके निवृत्ति के उपाय कोई चाहिए नहीं क्या उपाय होगा तो कहा प्राप्त आए वैसे प्राप्त हो गए सारे के सारे त्रिगुणात्मक है और गुणों से विद्या का राश होना नहीं है तो कैसे किया जाए यथार्थ निवृत्तिया हाँ, जैसे अविद्या की निवृत्ति हो इन गुणों में रहते हुए निवृत्ति करना है मैंने बर्दाश्त कर्मों के द्वारा ये बोल रहा है यहां तथा निवृत्ति से संसार के कार्य की निवृत्ति हो तथा वक्तव्य उसको कहना चाहिए करके आगे का प्रसंग जो वर्णाश्रम धर्म दिखाना चाह रहे कर्म दिखाना चाहते हैं इसी के माध्यम से चलते चलते संसार के कारण नाश कट जाता है नाश हो जाता है और शुरुआती साधन यहां से बताना है सर्वस्व गीता शास्त्र सारे गीते गीता शास्त्र का भी अर्थ यहां उपसंहार करना चाहिए गीता में यह अष्टादश अध्याय में पूरे के पूरे गीता में जो कुछ कहा उसको भी असमान मान उपसंहार करना चाहिए इसके लिए भी वक्तव्य है ये क्या कहना एतावान एवं सर्वो वेद स्मृत्यर्थ बस केवल गीता का ही अर्थ नहीं संपूर्ण गीता का मात्र अर्थ है सारे वेद का स्मृतियों का अर्थ भी इतना ही है करके बताना भी चाहिए ये सबके लिए पुरुषार्थम इच्छन भी तो परम पुरुषार्थ चाहने मोक्ष चाहने वाले होंगे पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ की इच्छा करने वालों के द्वारा अनुष्ठेय हाँ, इसको अनुष्ठान करना चाहिए यथावान एवं सर्ववेद अनुष्ठेय इतम अर्थम चाह इसका अनुष्ठान भी करना केवल शून्य मात्र से नहीं अनुष्ठान भी है अनुष्ठान भी करना है हाँ, ब्राह्मण क्षेत्र विषम इत्यादि आरभ का इसलिए चारों पर्व के कर्म को भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म दिखाते हैं यहीं से आरंभ होगा संसार वृक्ष संसार के वृक्ष हो चाहे संसार के मूल कारण को काटने का साधन ऐसे शुरू होगा अप्रत कर्म स्वय स्वय कर्म ने भिड़ता समसिद्धि लगते न स्वकर्म नेता सिद्धम इत्यादि आएगा प्रकृति परामृत में आएगा ये कहना है इसके लिए शोक है टिकट हो गई देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रतिभक्ता स्वभाव प्रपरिगुण ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रतिभक्ता स्वभाव प्रभवैर्गुण चार जाति सनातन धर्म के लेकर के चार जाति की चर्चा है ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य है शूद्र है ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम विश्व है वैश्य विष में धातु है उसी से वैश्य बनता है विश्व शब्द कोई लगा हुआ है तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम में द्वंद्व समास है ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विषश्च ब्राह्मण क्षत्रिय विषा ऐसा होगा उसके बाद षष्ठी के बहुवचन है ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम इन तीनों का और तो शूद्रो का हे परम तप हे शत्रु को कष्ट दिलाने वाले अर्जुन अर्जुन का विशेषण है परम तप कर्माणी प्रविभक्तारी गदे कर्म विभक्त है भिन्न भिन्न कर्म है सबका एक ही कर्म नहीं है ये जब गृहस्थाश्रम आदि में बैठा है तो उनके लिए कर्म अलग अलग प्रकार है चारों जाति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार है यदि साधक अवस्था में आ चुका है गृहस्थाश्रम छोड़ा है उसने उस स्थिति में फिर कर्म की ज्यादा चर्चा उसके लिए नहीं होगी उसका तो आश्रम धर्म तो है उसका कर्म संबंधी पर चर्चा नहीं है जातन पुष साधु की ज्ञान पूछियो तासु ताशु ताशु ज्ञान पूछो कहते हैं साधु के जाति नहीं पूछना चाहिए उसके कितना ज्ञान है वो पूछना चाहिए अठारह पुराण के जो प्रवक्ता हैं सूत जी हैं शूद्र में आते हैं जो सौनों का आदि ऋषि ब्राह्मण है नीचे बैठ के सुनते हैं अष्टादश पुराण जितने भी कथन करने वाले वक्ता होते हैं सूत जी नय विशारण्य की कथा होता है हर पुराण में नय विशारण्य की बात आती है नय विशारण्य में दीर्घ सत्र करके दीर्घ याग करके बैठे हुए ऋषि लोग होते हैं अठासी हजार ऐसे कहानी है वहां पर जब ये आज की यज्ञ पूरे हो गए तो उस समय कथा सुनते थे किसे सूत जी से सूत जी कथा सुनाते थे विदुर जी हैं सूत्र जाति के हैं किंतु ज्ञानी है वो ये सब साधक में जाने के बाद में जाति का इतना महत्व नहीं होता ये गृहस्थाश्रम की चर्चा है यहां ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य है और जो सूत्र है परंतु कर्माणी परिविभक्तानी का कर्म विभक्त है भिन्न भिन्न है कर्म एक ही नहीं है चारों जाति को लेकर किसके कारण विभक्त हुआ स्वभाव प्रभाव गुणाई स्वभाव अपने संस्कार अपने प्रकृति पूर्व जन्म में किए हुए कार्य जैसा किया होगा उसके आधार पर आज उन स्थानों में पहुंच करके वो संस्कार है उसके पास स्वभाव वही है उससे उत्पन्न जो गुण है मान समाधि गुण ब्राह्मणों का है सौर्यादि गुण क्षत्रियों का है और चेष्टादि गुण मैं वैश्यों का है और सेवा सेवा रूपी गुण सूत्रों का स्वभाव प्रवैध गुण ये कहा हुआ है स्वभाव अपने संस्कार अपने अपने संस्कार है त्रिगुणात्मन होने पर भी कुछ भेद हो जाते हैं अपने अपने संस्कार के आधार पर तो संस्कार के द्वारा उत्पन्न जो गुणों के कारण कर्म विभक्त होता है भिन्न भिन्न हो जाते हैं चारों के लिए कहा है कर्माणी प्रवृत्तानी कर्म विभक्त होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं ये कहा है भाष्य में कहते हैं ब्राह्मणाश्च हमारे द्वंद्व समाज दिखाते हैं ब्राह्मण क्षत्रियाश्च विशस्य ये तीन हो गए ब्राह्मण क्षेत्र विषह प्रथमा बहुवचन हो गया द्वंद्व के बाद उसके बाद तेषाम ब्राह्मण क्षेत्र विषाम ष्ठी का बहुवचन है श्लोक में तेषाम ब्राह्मण क्षेत्र विषाम सूत्राणाम च सूत्राणाम असमाशकरण एक जाति सती वेदे अंतिकारा बोलते हैं देखो सूत्रों का यह अलग पद में रख दिया ब्राह्मण क्षेत्रीय विषाम तीनों को समास कर दिया दो तो समास करके एक पद में रखा हुआ है ष्ठी का बहुवचन है और शुद्राणा को अलग किया क्यों कहते हैं एक जन्म होने पर भी माता पिता के द्वारा जन्म होने पर भी वेद में अधिकार न होने से उनको भगवान ने अलग करके रखा कहते हैं श्लोक की बात है श्लोक में एक शूद्राणाम है करण शूद्रों के समास में नहीं जोड़ा चारों का एक एक पद नहीं बनाया एक जाति तो जाति बोलो जन्म बोलो एक ही चीज है सर्वधातुभ्यो मनिन सूत्र से मनिन प्रत्यय करते हैं तो जन्म बन जन जन प्रादुर्भाव से मनिन करके जन्म शब्द होता है उड़ादि सूत्रों से और वही जन प्रादुर्भाव धातु से स्त्रियाम तीन सूत्र से कितन प्रत्यय करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा अनुनाशिका अनुनाशिकांत से कोई जलो की गति सूत्र के द्वारा उपधा दीर्घ होगा और अनुवाद तो उपदेश थे तो इत्यादि नाम अनुसार अनुनाशिक लोग हो झली के दूसरे अनुनाशिक नकार का लोग हो जाएगा जाति बन जाएगा स्थिति है जाति बोलो जन्म बोलो एक ही है तो शुद्राणाम और करण में यहां पर समास है चाहे तीनों को तो एक एक पद में रख दिया समास करके और शूद्र को अलग रखा हुआ है तो समास नहीं करना एक जातित्व भी एक जन्म होने पर भी तो वेदे अनधिकारा वेद में अधिकार नहीं उनका तो उसके लिए उपनय संस्कार पूर्वक होना था उपनय संस्कार हो नहीं पाया इस कारण से द्विजाति नहीं कहलाते कहा हे परम तप हे कुंती पुत्र अर्जुन शत्रु को ताप दिलाने अर्जुन कर्माणी प्रविभक्तानि का कर्म में विभक्त है कर्म भिन्न भिन्न कर्म है चारों के लिए एक ही कर्म नहीं है भिन्न भिन्न कर्म है विभक्त है इतर इतर विभाग व्यवस्था पिता नहीं इतर विभाग है चारों के लिए भिन्न भिन्न कर्म है इस प्रकार व्यवस्था की गई है व्यवस्था पिता ने कहा के राम प्रश्न उठता है के, के विभाग किसने किया के राम भिन्न भिन्न प्रकार कर्म विभाग कैसे ब्राह्मण आदि का कहते स्वभाव प्रभाव गुण ही कहा स्वभाव मारे प्रकृति के आधार पर है ठीक है स्वभाव प्रभाव गुणाई स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है गुण वहां समाधि गुण होंगे कौन गुण होंगे ब्राह्मणों के लिए समाधि है समदम आदि है समो दम तपस्व समाधि गुण क्षेत्रों के लिए सौर्य तेजो धृतृदाक्षवादि गुण है वो वैश्यों के लिए कृषि गौरव सुभाण चेष्टा आदि गुण है और उनके सेवा शूद्रों के लिए सेवा आदि गुण है तो स्वभाव माने स्वभाव माने प्रकृति स्वभाव प्रवे उनके द्वारा उत्पन्न जो गुणों के कारण कर्म भिन्न भिन्न होते हैं ये कहा हुआ है स्वभाव स्वभाव मैंने ईश्वर से प्रकृति जो ईश्वर की प्रकृति है ना त्रिगुणात्मिका प्रकृति वो स्वभाव सभी वस्तु त्रिगुणात्मा और होने पर भी कुछ भिन्न भिन्न हो जाते हैं वो जो गुणों के मिलाने के तारतम्य है वो जैसे तीन प्रकार का रंग किसी पेंटर को दिया जाए तो कई प्रकार के रंग बना देगा वो कम ज्यादा कम ज्यादा मिला मिला करके ठीक इसी प्रकार यह भी गुण सभी त्रिगुणात्मक है फिर भी वो प्रकृति का जो मिलाने की तरीका है कुछ विषमता हो जाती है तो स्वभाव स्वभाव ईश्वर से प्रकृति स्वभाव है यही है स्वभाव का अर्थ ईश्वर ये व्याख्या में संस्कार वाला आगे आएगा दो व्याख्या करेंगे ईश्वर की जो प्रकृति है स्वभाव शब्द का स्वभाव प्रभारी गुणे कहा हुआ है स्वभाव शब्द का था ईश्वर की प्रकृति त्रिगुणात्मिका वो तीनों गुणा रूपा है स्वरूपा है कौन प्रकृति वो प्रकृति ईश्वर की जो शक्ति है बोलते हैं प्रकृति बोलते हैं शक्ति बोलते हैं जिसको माया बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं माया भी बोलते हैं सा प्रभु यशा वो है उत्पत्ति कारण जिनका जिनका इन कर्मों का जो ब्राह्मण आदि के कर्म हो रहे हैं कौन कर्म जो समाधि कर्म है ये गुण है ये इन गुणों का त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कार्य में आते हैं किस में आते हैं प्रकृति कार्य कार्य रूप गुण है ये समाधि गुण सदगुण रजगुण तो गुण नहीं कहेंगे क्यों समाधि गुण ब्राह्मण में समाधि गुण है क्षेत्रियों में सौर्यादि गुण है इत्यादि एक आशा प्रभो ऐसा गुणानाम जो गुणों के उत्पत्ति गुणों गुणानाम माने समाधि नाम गुणानाम जो समाधि आगे कहेंगे गुण है ते स्वभाव प्रभाव उनको उन्हीं को कहा गया स्वभाव से उत्पन्न कहा प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुण यही है समाधि गुण ब्राह्मण के बाद समाधि गुण होगा जन्मजात आगे बिगाड़ता है वो अलग बात है जन्मजात तो समाधि गुण होगा उसके पास यही स्वभाव तही उन गुणों के द्वारा ये कहा समाधि ने कर्माणी प्रविभक्तादि ब्राह्मणादि नाम कहते तो ब्राह्मणादि चारों के लिए समाधि कर्म विभक्त है भिन्न भिन्न है कर्म एक ही कर्म सबके लिए नहीं है भिन्न भिन्न है समाधि ने कर्माणी जो समदवादी कर्म है आदि कर्म है कृषि गौरव सेवाणी आदि सेवा आदि कर्म है कर्माणि प्रविभक्ता विभक्त हैं ब्राह्मणादि जो ब्राह्मणादि चार वर्णों पर विभक्त है कर्म ये प्रकृतिजन्य गुण यही माना जाता है एक एक एक अर्थ तो यह हो गया समाधि प्रभावित गुण का अर्थ तो यहां स्वभाव और प्रभावित गुण सब स्वभाव सब करते हुए ईश्वर की माया जो प्रकृति है उसको स्वभाव सब सही लिया और दूसरा क्या है अथवा वही स्वभाव का अर्थ दूसरा कर रहा अभी अथवा ब्राह्मण से स्वभाव सत्वगुण ब्राह्मण का स्वभाव होता है सत्वगुण जो पैदा होते समय सत्वगुण विशिष्ट होकर ब्राह्मण शरीर का होगा किंतु आगे जो अन्य संसर्ग के कारण बिगाड़ता हो अपने गुणों को बिगाड़ करके फिर शौर्य आदि में जाता हो जहां भी पहुंचता अलग बात है उसका गुण ही होता है सतगुण से उत्पन्न होता है वो उत्पत्ति काल में कहा प्रभव का कारण कहा सतगुण उत्पत्ति का कारण होता है ब्राह्मण जाति का उसकी उत्पत्ति का कारण सत्वगुण है इसलिए समाजवादी साथ साथ आ जाएगा उसका ये कहना है तथा क्षत्रिय से स्वभाव और क्षत्रिय का स्वभाव कैसा होगा सत्व उपसर्जन रजत प्रभाव रजोगुण की प्रधानता होगी सतुगुण कौन होगा ब्राह्मण में तो एक ही गुण था सतुगुण से उत्पन्न है वो और क्षेत्रीय में सतुगुण कम है रजगुण अधिक है वो वह कारण उत्पत्ति का कारण क्षेत्रियों का इसलिए सौर्य आदिगुण आ जाते हैं उसमें ये कहा तथा उसी प्रकार क्षेत्रीय स्वभाव से क्षेत्रीय का स्वभाव क्या है सत्वोपसर्जनम उपसर्जन कौन सतुगुण कम है कौन है रजप्रभ रजगुण से उत्पन्न है कुछ सत्व से भी है रजगुण की प्रधानता से उत्पन्न होता है सौर्य आदि गुण यहां स्वभाव प्रभव गुण स्वभाव का अर्थ यह है क्षत्रियो का स्वभाव के साथ रजत प्रधान होता है वैश्य से स्वभाव वैश्य का स्वभाव वैश्य स्वभाव क्या होता है तो कहते तम उपसर्जन रज प्रभव तम गुण कम होगा रजगुण ज्यादा होगा सतगुण नहीं होगा तम गुण कम रजगुण ज्यादा वैश्य का स्वभाव होता है इसलिए वो व्यापार धंधा आदि करता रहता है वो गुण है उसके पास व्यापार आदि भी होता है कृषि गौरक्ष गोरक्ष वाणिज्य आदि है शूद्र से स्वभाव रजो उपसर्जन तम प्रभाव शूद्र का जो स्वभाव होगा पूर्व कर कृत के आधार पर रज रजोगुण कम है तम गुण अधिक है रजो उपसर्जनम रजोगुण तो कम है उपसर्जन में गौण है मुख्य रूप से तम गुण है स्वभाव ऐसा होता है आगे संसर्ग के कारण वह अगर सप्तगुण में आ सकता है बढ़ाते बढ़ाते जैसे विदुर आदि आ गए ब्राह्मण के लिए जन्मजात था किंतु संसर्ग के कारण खो सकता है वो अन्य जाति के लिए जन्मजात नहीं है वहां पहुंच सकते हैं और धीरे धीरे आग्रह करके है तो क्या है इनका स्वभाव क्या होता है जैसे ब्राह्मण का कहा हुआ है सतुगुण प्रधान सतुगुण से उत्पन्न है कहा क्षेत्र को कहा रजगुण कम है तब शतुगुण उपसर्ग में रजगुण ज्यादा है उससे सौर्य आदि गुण आया बोला और वैश्य में क्या है तमगुण कम न्यूनता है रजु की अधिकता है और शूद्र में क्या है रजगुण कम है तमगुण ज्यादा एक तो इसका कार्य कैसा दिखता है ये चारों का कार्य प्रशांति ऐश्वर्य यह गुणता स्वभाव यह स्वभाव होता है ब्राह्मणों में प्रशांति स्वभाव शांत होने के स्वभाव सदुगुण से उत्पन्न है वो इसलिए भाषांतर रहता हो क्षेत्रीय में ऐश्वर्य होता है क्यों सतुगुण कम है रजगुण ज्यादा है दोनों मिलकर बना हुआ है इसलिए ऐश्वर्य होता हो और वैश्व में यह मैंने चेष्टा व्यापार आदि वहां तमगुण कम है रजगुण ज्यादा है इसलिए यह मन चेष्टा व्यापार धंधा आदि और शूद्र में मूढ़ता तो भाई अविवेक प्रधान होता है यही है क्यों वहां तमगुण अधिक है रजगुण कम है सतुगुण है ही नहीं इसलिए मूढ़ता स्वभाव दर्शनाथ चतुर्भाव ये चारों में ऐसे ऐसे स्वभाव देखे गए क्या क्या प्रशांति ऐश्वर्य यह मूढ़ता ये स्वभाव देखे गए चारों वर्णों में ऐसा देखा गया जो नेचर बोलते हैं ना जन्मजात स्वभाव ऐसा होता है हो सकता है ब्राह्मण आदि जो होंगे माने गलत संगत से उसको को खो जाए गुणांतर में पहुंच जाए और अन्य जाति जो है महापुरुषों के संबंध से अपने गुणों को दबा करके सतगुण आदि में पहुंच जाए तब आगे की बात अलग है माने जन्म के कारण तो जन्म के समय ऐसा होता कहा तो <clears throat> दो अर्थ हो गया पहले वाला कहा था प्रकृति स्वभाव का अर्थ ईश्वर की प्रकृति तो त्रिगुणात्मिका माया को कहा था पहली व्याख्या में दूसरी व्याख्या में कहा मैंने मतलब सतगुण आदि को लेकर के कहा एक बार सतगुण है सतगुण से है इसलिए वो स्वभाव है उसका सतगुणी स्वभाव होता है कहा दूसरा सतगुण कम है रजगुण ज्यादा है कि क्षेत्र में इसलिए ऐश्वर्य आदि उसका होगा शासन आदि करना और वैश्व में तमगुण कम है रजगुण ज्यादा है बोला था वह उसका स्वभाव ऐसा है और शूद्र में रजगुण कम है तमगुण ज्यादा है रज उपसर्ग तम प्रभव कहा हुआ था दो व्याख्या हो चुकी है तृतीय व्याख्या वही स्वभाव शब्द का अर्थ स्वभाव प्रभावी गुण स्वभाव शब्द तृतीय व्याख्या है अथवा जन्मांतर कृत संस्कार प्राणिनाम वर्तमान जन्म ही स्वकार्य अभिमुख्यत्व अभिव्यक्त स्वभाव स्वभाव शब्द का अर्थ ही कर सकते हैं जन्मांतर की में किया गया जो संस्कार है कर्मों का संस्कार जैसा जैसा कर्म किया होगा जन्मांतर में पूर्व जन्मों में जन्मांतर कृत संस्कार अन्य जन्म को जन्मांतर कहा जाता है पूर्व पूर्व जन्म उसमें किया हुआ जो कर्म का संस्कार होगा प्राणी नाम जो प्राणी में संस्कार रहेगा वर्तमान जन्म नहीं जो वर्तमान जन्म आ गया हो पहले किया हुआ संस्कार है कर्मों का और इस जन्म में स्वकार्य अभिमुखत्व वो संस्कार अपना कार्य पैदा करेगा कार्य के लिए अभिमुखी हो जाएगा संस्कार जो तो इसका जैसा संस्कार होगा अपना कार्य के लिए अभिमुख होगा मान अभिव्यक्त करने के लिए वो संस्कार अभिव्यक्त हो जाता है अब फलावस्था में जाने लग जाता है संस्कार उसी को स्वभाव शब्द से कहना पहले तो सुप्त अवस्था में था संस्कार और वर्तमान जन्म में आ गया आने पर अब अपना कार्य दिखाएगा वो अपने कार्य की अभिव्यक्ति के लिए जागृत में पहुंच जाता है संस्कार उसी संस्कार को कहा जाता है स्वभाव यही है सप्रभव ऐसा वही संस्कार ही उत्पत्ति कारण जिनका चारों वर्णों का ब्राह्मण आदि वर्णों का उत्पत्ति कारण संस्कार संस्कार के कारण भिन्न भिन्न गुण पैदा हो जाते हैं जैसे जैसे संस्कार आया होगा पहले जन्म किया हुआ कर्मों का संस्कार जैसे जैसा है उसी प्रकार के अभी वर्तमान जन्म में परे उसको गुण आएगा माने समाधि गुण है ऐश्वर्यादि गुण है इहादि गुण है सेवादि गुण है जैसा होगा ये कहना स्वभाव नाम तो स्वभाव प्रभाव गुणा कहा गुण प्रादुर्भाव से निष्कारण यहां जो अभी गुण पैदा हो रहे हैं कौन सा गुण समाधि गुण ब्राह्मण जैसे समाधि गुण है क्षेत्रियों में शौर्य आदि गुण है वैश्य चेष्टा आदि गुण है शूद्र में सेवादि गुण है निष्कारण तो होगा नहीं ये भिन्न भिन्न चार बालक पैदा हुए चार प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है भिन्न भिन्न प्रकार के काम में जा रहे हैं तो इसके मतलब निष्कारण तो होगा नहीं बिना कारण का तो होगा नहीं कारण ढूंढना पड़ेगा कारण क्या है संस्कार पहले किया वो कर्म का संस्कार यही कारण है क्यों निष्कारण तो कोई वस्तु होता ही नहीं कारण के बिना कोई वस्तु होता नहीं अब यहां पर भिन्न भिन्न में चेष्टा कर रहे हैं इसके मतलब तो कारण तो है कारण क्या है कृत कर्म का संस्कार अभी अभिव्यक्त हो गया पहले सुप्त अवस्था में था अभी अभिव्यक्त अवस्था में हो गया उस संस्कार को कारण मानना पड़ेगा उसको कहा गुण यहां स्वभाव प्रभय गुणई का बने त्रिगुणात्म का गुण नहीं यहां एक गुण जो ब्राह्मण आदि में भिन्न भिन्न गुण पाए जाते हैं चारों वर्णों में ऐसे गुण के कारण से कहा कर्म प्रव्यक्त है कहा जिसका गुण प्रादुर्भाव से जो गुण का उत्पन्न होना आया ब्राह्मण आदि में भिन्न भिन्न गुण उत्पन्न हो रहे हैं तो इसके कारण जिस कारण तो अनुपत्य बिना कारण का तो हो नहीं सकता तो कारण होगा पूर्वजन्म किया हुआ कर्मों का संस्कार वही कारण है ये कहना स्वभाव कारण स्वभाव को ही कारण माना गया है संस्कार है स्वभाव कारण होती तो कारण विशेष उपादानम तो कारण विशेष क्या संस्कार ये लिया यहाँ स्वभाव प्रवृत्ति गुण स्वभाव तीसरे व्याख्या में संस्कार ले लिया पहले व्याख्या में तो प्रकृति को लिया था दूसरे में सत्वादि गुण को ही लिया था सतगुण कारण है जब ब्राह्मण की उत्पत्ति में कहा था क्षेत्र की उत्पत्ति में सतगुण कम है रजगुण ज्यादा अधिक है इत्यादि सत्व उपसर्जन है और रज की प्रधानता है और वैष्णव में माने रज की प्रधानता है तम की गौण है तम गुण उपसर्जन है और शूद्र में तम की प्रधानता है और रज जो है गौण है ऐसा कहा था वो गुण गुण को ही लिया था वो किंतु इसमें कहते हैं संस्कार को ले लिया तीसरी व्याख्या में स्वभाव शब्द करते संस्कार संस्कार के कारण से भिन्न भिन्न कर्म में लग जाते हैं ये कहना है एवं स्वभाव प्रभावित प्रकृति प्रभव कहा स्वभाव के द्वारा उत्पन्न प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जो गुण है समाधि गुण या गुण शब्द करता है सदगुण रजगुण तो मूड नहीं लेना या कौन है समाज जो जो ब्राह्मण समाधि गुण दिखाएंगे क्षेत्र में शौर्य आदि गुण दिखाएंगे इत्यादि प्रकृति प्रभव सत्व रजस्तमो तमोभीर गुण ही सतगुण रजगुण तमोगुण तो के द्वारा स्वकार्य अनुरूपेणा अपने कार्य के अनुरूप से जो सतुगुण होगा जहां वहां पर समाधि कार्य होंगे क्या होंगे या तमो सत्व उपसर्जन होगा रज प्रदान होगा वहां ऐश्वर्य अधिकारी होंगे सौर्य अधिकारी और शौर्य धृत धृतलाक्षण इत्यादि बोलेंगे ये सब हमारी है स्वकारी अनुरूप अनुरूपेण अपने में जैसे कारण होगा कारण के गुण कार्य में आ जाते हैं स्थिति है अपने समान गुण पैदा कर देते हैं यही है स्वकार्य अनुरूप समाधि नहीं रही वो समाधि कर्म को उत्पन्न करने वाले होते हैं तत्त गुण सत्वादि गुण यही है कर्माणी प्रवक्ता विभक्त है ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में कार्य कर्म विभक्त हैं उन उन गुणों के कारण से किसके गुणों के कारण से अब प्रश्न उठता है ना शास्त्र परिभक्ता नहीं शास्त्र विहिता नहीं ब्राह्मणादि नाम समाधि कर्माणी कथम उच्चते सत्वादि गुण प्रवृत्ता नहीं थी प्रश्न है महाराज शास्त्र के द्वारा विभक्त है कर्म तो किसके द्वारा कहां से मारे गुण के द्वारा प्रयोगता बता दिया आपने शास्त्र में विभक्त है कर्म तत्त जाति के कर्म किसमें शास्त्र पर विभाग दिया हुआ है कहां से गुणों से विभाग बता रहे हैं आप स्वभाव प्रवेश गुण कैसे बोल रहे हैं ये शंका है शास्त्र प्रयुक्तानी शास्त्रेण नहीं शास्त्र प्रयुक्ता शास्त्र के द्वारा विभक्त है ये कर्म चारों जाति के लिए विहिता विहितानी उसका अर्थ है शास्त्र के द्वारा विहित है कर्म ब्राह्मणादि नाम फिर के ब्राह्मणादि चारों वालों का कर्म शास्त्र के द्वारा विहित है ब्राह्मणादि नाम समाज ने कर्म समाज जो कर्म हो रहा है ना ब्राह्मण जो समाज कर्म बताना है क्षेत्रियों में सौर्य आदि कर्म है इत्यादि तो शास्त्रों के द्वारा विहित है तो कहा गुणों के द्वारा विहित है कथम उच्चते सत्वादि गुण प्रवृत्ता फिर आपने कैसे बोल दिया सत्वादि जो तो तीन गुण है सदगुण रजगुण तमगुण इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं करके कैसे कहा यहाँ भाष्यकार के ऊपर में आक्षेप उसका उत्तर देते हैं नहीं दोष हाँ, कोई दोष नहीं है सिद्धांत बोल रहे कोई दोष नहीं है शास्त्रेण अभी देखो शास्त्र भी अपने बिना कारण तो शास्त्र भी बोल नहीं सकता गुणों के सहारे से बोलता किसके सहारे से हाँ। अनर्गल तो बोल नहीं सकता शास्त्र गुणों के माध्यम से बोलता ही कहना है शास्त्रेण आप ही ब्राह्मणादि नाम सत्वादि गुण विशेष अपेक्षाया एवं शास्त्रों के द्वारा जो ब्राह्मणों के लिए कर्म का विभाग किया है ब्राह्मण आदि के लिए चारों वर्णों के लिए किसी क्या है वहां सत्वादि गुण की अपेक्षा करके किया गया किसके द्वारा तो सत्वगुण रजगुण तम गुण की अपेक्षा से शास्त्र द्वारा विभाग होता है अपेक्षा है वह समाज ने कर्माणी प्रवृत्ता ने समाज कर्म का विभाग किया है शास्त्र की अपेक्षा कर शास्त्र ने भी गुणों की अपेक्षा करके किया है स्वतंत्र रूप से नहीं किया चारों वर्णों के कर्म का कथन न गुणा गुण अनपेक्षा है वह गुणों की अपेक्षा किए बिना नहीं किया शास्त्रों ने भी शास्त्र प्रवक्ता कर्मा यद्यपि देखा जाता है शास्त्रों के द्वारा विभक्त है कर्म शास्त्र में वहां कहा यहां कहा बोलते हैं शास्त्रों दिखाते हैं फिर भी गुणों की अपेक्षा करके शास्त्र ने विभाग किया है शास्त्र प्रवृत्तानी अभी कर्माणी गुण प्रवृत्तानी थे शास्त्र के द्वारा प्रवृत्त कर्म को गुण के द्वारा विभक्त कहा जाता है गुण की अपेक्षा करके शास्त्र विभाग करते हैं कर्मों का तत्त जाति के लिए तो इसलिए मैंने शास्त्र के द्वारा करने पर भी गुण प्रभुत कहा जाता है इसे स्वभाव प्रभावित गुण ही कहा हुआ है यहाँ स्वभाव से गुणों के द्वारा ही कहा हुआ है तो शास्त्र के द्वारा भी गुण की अपेक्षा करके ही किया जाता है कर्म का विभाग स्वतंत्र शास्त्र नहीं करता ये कहा टीका से देखना होगा ब्राह्मण यहां पर है टीका चतुर्थ तो पंक्ति में है ना ब्राह्मण क्या है माने एक जाति उत्सति कहा था समास नहीं गया क्यों कहते एक जाति होने पर भी एक जन्म तो है वेदे अनधिकार बोला था शूद्र को अलग किया वहां मूल में रुद्राणाम से करके अलग किया है समास में एक एक दोनों समाज में एक, एक साथ नहीं रखा क्यों तो प्रश्न था ये कहा था एक जातित्व भी वेदे अनधिकारात बोला था भाषिकार उसी का अर्थ है टीका में उपनय संस्कारवत्व सती वेदाधिकार तो देखो वेद में अधिकार तभी होगा उपनय संस्कार होने पर ही होगा समानम तो त्रयाणाम तीनों को तो समान कर दिया क्यों तीनों को उपनय संस्कार है किसका ब्राह्मण क्षेत्रीय पैसों का इसलिए समास कर समास कर दिया होगा श्लोक में ब्राह्मण क्षेत्रीय विषाम द्वंद्व समास करके ष्ठ का बहुवचन लगाया इतर है शाम जो इतर है शूद्र है ये तीनों से अतिरिक्त हैं असमासे हेतु महा असमास समास न करने में कारण कहा हेतु बताते हैं क्या शूद्राणाम इति भाष्य में कहा था शूद्राणाम असमास कर्म एक जाति सती वेदे अधिकार कहा एक जन्म तो है उनका दूसरा जन्म नहीं है क्योंकि जिसमें वेद पढ़ने के बाद में क्या होता है उन्हें संस्कार द्विजाति बोलते दो बार जन्म मानते हैं एक बार माता पिता से जन्म एक बार संस्कार से जन्म ठीक है द्विजाति बोलते तीन को ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य को किंतु इनमें क्या है कहा कि शूद्राणाम समास कर रहा हूं भाष्य में कहा था सूत्रों का समास में नहीं लिया गया किस लिए एक जाति सती वेद अधिकार एक जन्म होने पर भी वेद में अधिकार नहीं उनका जन्म तो है किंतु वेद में अधिकार नहीं है उपनयन संस्कार नहीं हो पाया इसलिए अलग किया ये कहा हुआ है एक जातित्व माने उपनयन वर्जित ये कहते हैं एक जाति माने कि एक जन्म उपनयन संस्कार से रहित है ये उपनयन संस्कार होता तो द्विजाति हो जाते द्विजाति नहीं बन पा यही है एक तुम का था उपनयन वर्जित उपनयन संस्कार से रहित है ये कारण है कर्मणाम असंकीर्णत्व व्यवस्थापक कर्म का भिन्न भिन्न रूप से व्यवस्था करने वाला क्या होता गुण होते हैं ये कहना है कर्मणाम चारों वर्णों का जो कर्म है असंकीर्णत्व पृथक पृथक रूप से व्यवस्थापक प्रश्नपूर्वक प्रकृति व्यवस्थापक कौन होता है प्रश्नपूर्वक या कथन करते हैं कौन होता है कर्मों का व्यवस्था कौन करता है गुण ये बोलना चाह रहे हैं के न यह प्रश्न था भाष्य में के न किसके द्वारा व्यवस्था की गई कर्म की कर्म की व्यवस्थापक कौन है चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म के व्यवस्थापक कौन ये कहा के राय भाषण भाष्य में प्रश्न उत्तर दिया स्वभाव प्रभावी ही कहा यही है उत्तर स्वभाव ईश्वर की प्रकृति एक पर स्वभाव यह है दूसरे व्याख्या में स्वभाव शब्द तीन गुण और तीसरी व्याख्या में स्वभाव शब्द होता है संस्कार तीन व्याख्या है स्वभाव शब्द का यहां भाष्य में तीन तीन प्रकार की व्याख्या लिखी है पहले वाले में ईश्वर की प्रकृति माया स्वभाव का था दूसरे में लिखा है तीनों गुण सदगुण रजगुण तमुगुण तीसरी व्याख्या में संस्कार पूर्वकृत कर्मों का संस्कार तब तक जीवों का संस्कार से विवाद होना ये कहा हुआ है के न प्रश्न हुआ कि क्या है व्यवस्थापक कौन है किसके द्वारा विभक्त होते हैं गुण ब्राह्मण आदि में तो कहा के हमारे स्वभाव प्रभैर गुण ही कहा स्वभाव से उत्पन्न गुण कहा तो स्वभाव माने ईश्वर से प्रकृति पहले वाली व्याख्या है ये ईश्वर की जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका है वो तीनों गुण स्वरूपा है प्रकृति माया उसी को स्वभाव कहा सा प्रभवो यशाम स्वभाव प्रभव ने उत्पत्ति कारण वह जिन गुणों का किन गुणों का समाधि गुणों का सत्वादि गुणों का नहीं सत्वादि गुण रूप तो प्रकृति है तो चार वर्णों में जो भिन्न भिन्न गुण दिखाई पड़ रहे हैं उन गुणों का समाधि गुणों का कहा हुआ है ऐसा गुणानाम जिन गुणों का ऐसा एक समाधि गुणों का ते स्वभाव प्रभाव तही उन गुणों के कारण से भिन्न भिन्न कर्म हो जाते हैं समाधि के कारण भिन्न भिन्न कर्म से समोदम आदि है समोदम तपस सहतम शांति सभी आगे बोल लेंगे ब्राह्मण के कर्म बताएंगे क्षेत्रों के लिए सौर्यम तेजो धृत आदि बताएंगे तो इत्यादि कर्मों के कारण वो स्वभाव है उनका मूल कर्म उसके कारण से कर्म भी कहा गया यहां ये कहना है आगे कहते हैं समाधि कर्माणी प्रवक्ता ब्राह्मणादि राम कहते यह है तो समाधि चार प्रकार के कर्म की चर्चा होगी यहां तो विभक्त है ब्राह्मणों के लिए किसी द्वारा प्रकृति का कारण विभक्त है पहली व्याख्या ही है प्रकृति उसी प्रकार की प्रकृति बनी हुई है यद्यपि त्रिगुणात्मिका है फिर भी प्रभु का जो मिलाने की शक्ति है जो भिन्न भिन्न प्रकार से यहां काम कर रही है अथवा करके वास्तव में कहेंगे टीका हो गया अभी स्वभाव प्रवैर गुण इतिहास अर्थांतर वहा स्वभाव प्रवैर गुण का एक विषय एक अर्थ तो हो गया विषय हो गया क्या हो गया माया माया का स्वभाव कहा त्रिगुणात्मका को उससे उत्पन्न जो गुण है समाधि गुण इसके कारण से कर्म विभक्त हो जाते हैं कहना है अब विषयांतर अन्य विषय बोलते हैं स्वभाव प्रवय का अर्थ अथवा करके कहा अथवा ब्राह्मण से स्वभाव और सत्वगुण इत्यादि गुण को लेकर के कहा आपकी बार किसको लेकर गुण को लेकर कहा इत्यादि उक्त व्यवस्थायाम कार्य दर्शनम प्रमाण थे ये जो व्यवस्था देख रही है ब्राह्मणों का मान समाधि गुण काम कर रही है क्षेत्रों में शौर्यादि गुण काम कर रहे हैं जन्मजात ऐसा देखते हैं तो इत्यादि में व्यवस्थापक क्या है तो हम्म, कोई कार्य कोई कार्य दर्शन को प्रमाणित करते कार्य है प्रशांति आदि कार्य है ब्राह्मण विशेष रूप से शांति प्रशांति आदि प्रशांत रहता है प्राय हम्म, क्षेत्रीय पाय सूर होता है इत्यादि प्रशांति आदि कहा था वाष्य में ये देखा हुआ है कहा था प्रशांति ऐश्वर्य यह पूर्णता स्वभाव शत्रुणाम चारों वर्णों में तो देखा गया है एक जगह शांति देखी प्रकृत से शांति और दूसरे में ऐश्वर्य देखा गया तीसरे में इहा मान चेष्टा और चौथे में मूर्ता माने अविवेक देखा गया यही है किमित गुणाभिव्यक्तिर उक्त वासनाधीनत्व तथा कहते हैं गुण की अभिव्यक्ति में संस्कृत तीसरी व्याख्या में संस्कार कहा है गुण के जो समाधि गुण के अभिव्यक्ति में कारण क्या है वासना बोलते संस्कार को बोला था संस्कार का दिन क्यों कहना यह प्रश्न होता तीसरे व्याख्या में संस्कार को लिया है स्वभाव शब्द का था पूर्वकृत कर्मों का संस्कार के आधार पर या भिन्न भिन्न गुण देखे जाते हैं चारों जाति में कहा कि मित्र गुणा अभिव्यक्ति गुण की अभिव्यक्ति में गुण क्या है त्रिगुणदायी समाधि गुण जो तत्त जाति में पाए जा रहे हैं जो गुण उक्त वासना जन तो जो कहा गया वासना क्या है पूर्वकृत कर्म कर्मों का संस्कार पूर्व जन्मादि किया हुआ कर्मों का संस्कार को यह वासना बोला हुआ है क्यों अधीन करना उसके वासना के अधीन होकर के यहां समाधि क्योंकि भिन्न हो रहे हैं उसमें कहा गुण इत्यादि कहा हुआ है वासना गुण प्रादुर्भाव से निष्कारण तो अनुपत्ति कहते जो गुण उत्पन्न हो रहा ना समाधि गुण चार जाति में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न हो रहा है बिना कारण हो नहीं सकता बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं है तो कारण है तो क्या कारण है पूर्व कर्म का संस्कार है उसी का कारण है कर्म भेद है आगे स्वभाव टीका पे कहते हैं ननु नास्तिक गुण प्रादुर्भाव से निष्कारत्व पूर्वादि बोलता है महाराज गुण के उत्पत्ति में निष्कारण तो नहीं गुण उत्पन्न हो रहे हैं समाधि गुण सौर्यादि गुण भिन्न भिन्न गुण उत्पन्न हो रहे हैं अभी वर्तमान शरीरों में तो निष्कारण तो हो नहीं सकते प्रकृति गुण इति प्रकृतिजन्य गुण कहा हुआ है ना इति प्रकृति गुण तो अभियानार्थ प्रकृति के गुण को कारण माना हुआ किसको हाँ, समाधि को नहीं प्रकृति गुण का कारण संस्कार को कहा कारण माना है प्रकृति स्वभाव प्रभवी गुण ही गुण ही शब्द दिया हुआ है या आप संस्कार व्याख्या रहे लगे संस्कार कारण कैसे होगा तो गुण कारण होना चाहिए हाँ, कार्य हो रहा अभी समाधि तो समाधि जो गुण दिख रहे हैं ये गुण के कारण सत्वादि गुण है ये क्यों माना जाए संस्कार को क्यों याद देना प्रधान था अतः इसको उत्तर दिया स्वभाव शब्द से कहा हुआ है स्वभाव मैंने कारणम देखो स्वभाव शब्द कहता कारण इस पक्ष में कारणम कारण विशेष उपादान कहते हैं कारण विशेष का ही उपादान किया है स्वभाव मान कारण होता है या भी कारण विशेष है क्या संस्कार एक कारण है क्या है कारण स्वभाव का अर्थ कारण तो कारण तो यह भी कारण है संस्कार इसलिए ऐसा व्याख्या किया था ठीक है मैं वासना कारण यदि गुण व्यक्तिर निमित्त कारणत्व विवक्षितम प्रकृतिस्त उपादान विभाव ये बता देते हो वासना जो है कारण है गुण व्यक्तिर निमित्तम गुण व्यक्ति के मान क्या निमित्त कारण यह है जो वासना व्यक्ति जो है वासना जो संस्कार बोला वो निमित्त कारण है विवक्षित तो यही है प्रकृति तो उपादान और प्रकृति जो है वो स्वभाव से होता है प्रकृति भी है वो उपादान कारण है किसका ये, ये समाधि कारण कार्य का उपादान कारण प्रकृति से हुआ किंतु निमित्त कारण संस्कार वासना ऐसे कहा उत्तम उपसंग उपसंग जो कहा उसका उपसंगार करते एवं इत्यादि शब्द भाषण कहा एवं स्वभाव प्रभावी प्रकृति प्रभावी मान प्रकृति द्वारा उत्पन्न है सारे एक समाधि कर्म सत्र तमो भीर गुण ही सदगुण रजगुण तमोगुण के द्वारा ही स्व कार्य अनुरूप अपने अपने कार्य के अनुरूप ही कर देते हैं जैसे जैसे गुण होगा जहां उस प्रकार के कार्य उत्पन्न करते हैं समाधि ने कर्माणी प्रवक्तानी समाधि जो कर्म है ब्राह्मणादि में उसका विभाग कर, करते हैं कहा विभक्त हुए हैं ये कहा हुआ है टीका में कहते हैं स्वभाव प्रभवे सत्वादि गुण ब्राह्मणादि नाम कर्मणि प्रभवतानी उत्तम आक्षिपति स्वभाव उत्पन्न जो गुण है स्वभाव से उत्पन्न गुण के कारण संस्कार आदि के कारण सत्वादि गुणों के द्वारा ब्राह्मणादि नाम कर्माणी ब्राह्मणादि जो चार वर्ण है उनके कर्मों का प्रविभक्ता ने विभक्त होते हैं कर्म कहा इति उत्तम जो सिद्धांत ने जो तो कहा था पूर्वादि आक्षेप करता है नहीं शास्त्र के द्वारा विभक्त है कर्म कहा गुणों से विभक्त है ये पूर्व पक्ष आक्षेप करेगा यही है ननु इत्यादि है भाष्य में कहा हुआ है ननु शास्त्र प्रवक्ता कर्माणी शास्त्र के द्वारा विभक्ता है कर्म तो महाराज हम्म। शास्त्र विभाग करते हैं इस जाति का कर्म यह है इस जाति का कर्म यह है कहां गुण विभाग कर रहे कर्मों का यह पूर्वादि का कहना है ननु शास्त्र प्रवक्ता ने शास्त्र विहिता नहीं वही शास्त्र प्रवृत्ता नहीं करते शास्त्र विहिता नहीं शास्त्र के द्वारा विहित है ब्राह्मण आदि नाम समाधि नहीं कर्म जो ब्राह्मण आदि चार जातियों को जो समाधि भिन्न भिन्न कर्म है शास्त्र के द्वारा विधान है कथम उच्चते सत्वादि गुण प्रवृत्ता नहीं थी ये कैसे कह दिया आपने कि सत्वादि गुण से उत्पन्न होते हैं ब्राह्मण आदि का कर्म कैसे कहा आपने ऐसे प्रश्न उठा टीका में देखा शास्त्र से धर्म विभाग है तो धर्म के विभाग का कारण शास्त्र है किसका कौन सा धर्म होता है किसका कौन वर्ग का क्या धर्म है वो विभाग के कारण शास्त्र होता है हेतु वही है शास्त्र से धर्म विभाग हेतु हो धर्म विभाग का कारण जो शास्त्र है उसका सत्वादि विशेषापेक्षा देखो शास्त्र अपने में तो अपने आप धर्म का विभाग नहीं कर सकता सत्वादि गुण की अपेक्षा करके ही करता है माने गुणों के सापेक्ष गुण सापेक्ष होकर के शास्त्र तत्त धर्म का विधान करता है यही है सत्वादि विशेष अपेक्षा सत्वादि जो गुण होंगे उसके अपेक्षा से ही अपेक्षा करके शास्त्र धर्मादि का विभाग का कारण होता है विभाग ज्ञापक विभाग का ज्ञापक है शास्त्र ज्ञापक होता है गुण द्वारा विभक्त जो कर्म होंगे उनका ज्ञापक शास्त्र है इसलिए उभयत्र विभाग हेतु तो उक्ति इति अविरुद्ध कहा इसलिए दोनों में विभाग के कारण एक शास्त्र को बताया गया है गुणों का विभाग भी शास्त्र बोलेगा गुणों के माध्यम से होगा इसलिए यहां पर विभाग के उत्पत्ति के कारण कभी शास्त्र को बोला जाता है कभी गुण को कहा जाता है दोनों में अर्थ प्रयुक्त होता है या गुणों को लेकर कहा हुआ है ये कहा हुआ परिहरते नए शब्दों से कहा है सिद्धांत ने कहा शास्त्रेण आप जो शास्त्र के द्वारा धर्म का विभाग होता है ना किसका कौन धर्म है ब्राह्मणादि नाम सत्वादि गुण विशेषापेक्षया समाधि निकारण प्रभुता ने जो ब्राह्मणादि चार वर्णों के जो सत्वादि गुण की अपेक्षा करके ही समाधि गुणों का विभाग किया जाता है स्वतः नहीं स्वतः शास्त्र नहीं कर सकता गुणों की अपेक्षा से करता है इसलिए स्वभाव प्रभावी गुणे का गुण की प्रधानता दे दिया ये कहा न गुण अनपेक्षा है वह गुण की अपेक्षा किए बिना तो शास्त्र भी नहीं कर सकता धर्मों का विभाग शास्त्र नहीं अभी कर्माणी गुण प्रवृत्तानी उपस्थित का इसलिए शास्त्र के द्वारा है इतने कर्म फिर भी गुण विवृता कहा जाता है क्योंकि गुण की अपेक्षा करके शास्त्र काम करता है इसलिए गुण स्वभाव प्रवेश गुण तो गुण के द्वारा किया गया कहा गया यहां ये कहा है आगे टीका है प्रविभक्ता कर्माणी प्रश्न द्वारा विविध दर्शे जो विभक्त कर्म कहा था ब्राह्मण आदि चारों के लिए कर्माणी प्रवृत्ता स्वभाव प्रवेश गुण कहा था पूर्व श्लोक में उसको प्रश्न द्वारा पृथक पृथक करके दिखाते हैं चारों का कर्म कौन कौन कर्म है चारों वर्णों का कौन कौन कर्म होते हैं जो स्वभाव प्रवेद गुण कहा था अपने में प्रकृति के आधार पर होने वाले कर्मों का व्याख्या कर देते हैं चारों का कहानी इत्यादि पर कहानी पुनस्थानी कर्माणी उन चारों गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्म कौन कौन है वो कहानी पुनस्थानी कौन है वो कर्म कौन कौन है वो कर्म कौन कौन चारों गुणों के द्वारा जो किए जाते हैं ये कर्म कौन ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं इसका संबोधम तप शौचम शांतिरार्थ विवेक ज्ञान विज्ञान वास्तव्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम समोदमस्तप शौचम बच ज्ञानम विज्ञानम आस्तित्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम देखो पूर्व जन्म के प्रकृति के आधार पर बोलो चाहे पूर्व कर्म जन्म के गुणों के आधार पर बोलो चाहे संस्कार के पूर्वकृत कर्म के संस्कार पर बोलो तीन प्रकार की व्याख्या है स्वभाव शब्द का अर्थ तो ब्राह्मणों का कर्म जो तो स्वभाव जन्य कर्म है प्रकृति के आधार पर होने वाले कर्म क्या है समा समा माने होता है माने मनोनिग्रह करना जन्मजात उसका स्वभाव होता है मनोनिग्रहित होना निग्रह होता है उसका उस उसी गुण को लेकर आया सतगुण को लेकर पैदा हुआ है वो बाद में दुर्जनों के संग करके बिगाड़ता हो तो अलग बात है समाह दमा बाह्य इंद्रियों का दमन निग्रह करना इंद्रियों को निग्रह करना अंतकरणों को निग्रह करना अन्यों के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा अन्य जाति के लिए समुदाय आर्जन के लिए इसे स्वभाव है स्वतः है प्राप्त है इसको तब तप तपस्या मन की एकाग्रता मनस्य इंद्रिया एकाग्र परम तप और शौचम शुद्धता भीतर बाहर शुद्धता शांति क्षमा करने का स्वभाव और आर्जवम सरलपना केवल ऐसा और ज्ञानम और विज्ञानम सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान दोनों प्रकार का ज्ञान आस्तिक्यम परमात्मा है ये बुद्धि अस्थि बुद्धि अस्थि नास्तिक दिष्टवती सूत्र है व्याकरण में अस्थि करके मानता है तो आस्तिक बोलते हैं नास्तिक बोलता हो नास्तिक कहते हैं परलोक के विषय में परमात्मा के विषय में अस्थि नास्तिक दिष्टवती ऐसा सूत्र है व्याकरण ऐसे अस्थि बुद्धि नास्ति बुद्धि अस्थि बुद्धि वाले को आस्तिक बोलते हैं नास्तिक बुद्धि वाले को नास्तिक कहते हैं अस्तिक्यम माने परमात्मा के विषय में है ईश्वर है ये भावना ब्रह्म कर्म से ब्रह्म कर्म ब्रह्मणा कर्म ब्रह्म कर्म ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मणों का कर्म स्वाभाविक होता है जन्मजात होता है माने प्रकृति संग युक्ति संगत है कर्म आगे दुस्संग के माध्यम से बिगाड़ता है वो अलग बात है नहीं तो इनके लिए ऐसा है क्यों उपनिषद में जो यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ती न चेत यह भी महती विनष्ट इत्यादि इत्यादि में टिप्पणीकार ने एक अच्छी बात लिखी है माने ब्राह्मण शरीर में कोई पैदा हुआ है इसी शरीर में रहते रहते परमात्मा तो जानता है तो कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए क्यों उसके पास जन्मजात ऐसे गुण है उसके पास उसके लिए कोई प्रशंसा का पात्र नहीं माना जाता हो यदि ब्राह्मण शरीर में आकर के नहीं कर सकता हो तो निंदा के पात्र होता है जितने गुण से तो पैदा होते हुए देखा अन्य जाति से वो में आते हुए उस तत्व को प्राप्त करते वो धन्यवाद के पात्र है क्यों समाधि गुण उनके पास जन्मजात नहीं था बाहर से आर्जन करना पड़ा उनको वहां आने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा वो धन्यवाद के पात्र होते हैं अगर नहीं प्राप्त कर सको तो कोई बड़ी हानि नहीं मानी जाती क्यों उनके पास गुण नहीं था साधन नहीं था ऐसे कहा है टिप्पणी कार तो ऐसे यहां भी है तो ब्रह्म कर्म स्वाभाविक ब्राह्मणों का कर्म स्वाभाविक कर्म होता है प्रकृति जन्य कर्म चाहे गुणों को लेकर सतुगुण से उत्पन्न हो या विशेष रूप से वो गुणों को लेकर अथवा प्रकृति को ईश्वर की प्रकृति को लेकर बोलो अथवा संस्कार को लेकर बोलो क्योंकि अभी जो वर्तमान में स्थिति में शरीर प्राप्त करना पूर्वजनों को कर्म विशेष है तो स्वभावजन्य गुण है उनके पास उसके कारण ये अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति होती है शांत रहता है समह मन शांत वाला होता है दम मन बाह्य इंद्रिय निगृहित होता है तप तपस्वी होता है शौच माने भीतर बाहर की शुद्धता भीतर की शुद्धता भगवान के नाम संगत आने के द्वारा बाहर की शुद्धता मिट्टी जल आदि के द्वारा क्षांति क्षमाशील होता है ब्राह्मण वास्तव में हो और आर्जवन सरलपना में होगा ज्ञानम सामान्य ज्ञान विज्ञान माने विशेष सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान कहिए जैसे सामने घट देखा अयम घटा बोला विशेष ज्ञान नहीं हुआ क्या इस कितना बड़ा है कितना छोटा है कितना आकार है क्या है भीतर क्या है बाहर क्या है विशेष टटोलने के बाद विशेष ज्ञान होगा हाँ, ये है वास्तविक ज्ञान पहले सामान्य दूर से देखा था सामान्य ज्ञान बाद में विशेष ज्ञान हो जाता है ऐसी स्थिति है तो ज्ञान का सामान्य ज्ञान विज्ञान मान विशेष ज्ञान और आस्तिक के परमात्मा में अस्थि बुद्धि हाँ, और ये है ये मिलकर के ब्रह्म कर्म ब्राह्मणों का कर्म स्वाभाविक कर्म होता है ब्राह्मणों का कहा हुआ है समोदम यथा व्याख्या था वो अर्थ बोलते हैं समदम का अर्थ कई बार व्याख्या हो चुके हैं इनके सम माने अं, अं, माने मन के निग्रह है अंतकरण के निग्रह है दम माने बहिर्द्र के निग्रह है तपा माने यथोक्तम शारीरादि जो तीन प्रकार के तब ये भी पहले कहा हुआ है देवदी जो गुरु प्राज्ञा पूजनम सौ मार्जवम ब्रह्मचर्य में अहिंसा च शारीरम तपोच्यत इत्यादि सब सप्तश अध्याय कहा हुआ था तप के बारे में तो ये तीन प्रकार के तप पहले कहा हुआ है कहा तप यथोक्तम पहले कहा हुआ है इसके बार बार भाष्यकार का अर्थ करते रहेंगे सप्तश अध्याय में बताया हुआ है तपो यथोक्तम शारीर शारीरादि बोले आदि जो शारीरिक मानसिक आदि तप है वांगमय तप है ये तीन प्रकार के तप है सप्तश अध्याय में कहा हुआ है शौचम व्याख्यातम शौच का भी मिट्टी जल के द्वारा बाहर की शुद्धि होनी है और भीतर बुद्धि भगवान के संकीर्तन आदि से होना है ये भी व्याख्या हो चुकी है पहले क्षांति अब क्षांति का अर्थ क्षमा क्षमु सहने धातु है क्षमु धातु सहन करने अर्थ होता है क्षमुष धातु है तो क्षम बचेगा उसे त्रियाम तीन से तीन करें तो शांति बनता है क्षमा शांति का अर्थ क्षमा है माने दूसरे के द्वारा अपकृत होने पर उसको क्षमा कर देना जैसे द्रौपदी क्षमाशील थी क्षमा करती थी आर्जवन रिजता एवं आर्जव का सरलता भीतर बाहर एक ही है ये नहीं कि भीतर कुछ सोच रहा बाहर कुछ बोल रहा है ऐसा नहीं बनावटी नहीं सरल ज्ञानम विज्ञानम कहा ज्ञान सामान्य ज्ञान है विज्ञान मन विशेष ज्ञान है अस्तित्व में अस्थिभाव परमात्मा के विश्व अस्थिभाव अस्तित्व पना है परमात्मा है ऐसे निश्चय करके बैठा हुआ होता है श्रद्धानता आस्तिक भाव माने श्रद्धालु होना परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखें किसमें आगमार्थ यही है हाँ, आस्तिक माने वेदों के अर्थों में विषय में श्रद्धालु रहना यही है वही है आस्तिक्य का अर्थ वेद में परमात्मा हाय करके बोलता है वेद बोलता है तो उसमें विश्वास करके रहना ये सब जन्मजात होता है इनका पूर्वकृत कर्मों के आधार पर हो चाहे गुण के आधार पर हो चाहे प्रकृति के आधार पर हो जन्मजात होता है ब्राह्मणों का कहा ब्रह्म कर्म समाप्त रहा ब्रह्म कर्म मैंने ब्राह्मण जाते कर्म ही होगा ब्राह्मण जाति का कर्म को ब्रह्म कर्म कहा जाए ब्रह्म मैंने ब्राह्मण भी है ब्रह्मा ने सविशेष भी है ब्रह्म ने निर्विशेष भी है ब्रह्मा ने प्रकृति भी है तो समय समय पर अर्थ निकालना होगा चारों वर्णों की चर्चा में ब्रह्म आए तो ब्राह्मण ही है ब्रह्मगर्भ स्वभाव जो कहा यदोक्तम स्वभाव प्रवैर गुण जो कहा था ना ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शुद्राम च परम तप कर्माणी प्रवक्ता स्वभाव प्रवैर गुण कहा था स्वभाव गुण प्रवक्ता तदेव उत्तम स्वभावजम इसी को स्वभाव से उत्पन्न कहा था वहां उसी को यहां स्वभावजम करके बोला हुआ है पूर्व श्लोक में जो स्वभाव प्रवेश गुण का उसी को स्वभावजम बोला हुआ है की बात है एक कहा ठीक है देखें अंतकरण उपसमो समा सम और दम का भिन्न भिन्न अर्थ कर देते हैं टीका में अंतकरण को शांत करना मन को उथल पुथल को समाप्त करना एकाग्र रखना यह है सम दमो माने बाह्यकरण उपरतिम उपरति उत्तम और बाह्य का अर्थ बाह्य दम का अर्थ बाह्यकरण का उपराम करना विश्व से उपराम करना उन्हें निग्रह करना यही होता है विश्व से परामुख करना यही होता है उसका दम का अर्थ यही होता था यथा इत्यादि यथा व्याख्या तो बोल दिया है व्याख्या का अर्थ हो पहले व्याख्या की है इसकी कहते हैं <clears throat> त्रिविधम तप तीन प्रकार की तप पहले सप्तश अध्याय बता दिया है शारीरक तप वांगमय तप मानस तप तीन प्रकार की तप बताया हुआ है त्रिविधम तप सप्तश दर्शितम सत्रह अध्याय भी दिखाया हुआ है तीन प्रकार के तप वही दिखना है हाँ, अनुद्वेग कर्म वाक्य वांगमय तप बोला है दूसरे को चुभे ने ऐसे वाक्य बोलना अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम हित प्रियम जयत स्वाध्याय जय बात मन प्रसाद तो मौन मात्म विनिग्रह भाव सब सिद्धि तत्व मानस उच्यते तीन प्रकार तब बताया है तो बार बार थोड़ी भाषिकार बोलते रहेंगे वहां पढ़ के आए हो आप यही बोलते हैं तब वही कहा हुआ है तपह पो यथोक्तम आदि बोलते जैसे हमने कहा है पहले आदि तब तीन प्रकार के तब शारीरिक मानसिक भाषिक तीन प्रकार के तब बताया हुआ है वही है तब शौचम अभी बाह्यांतर भेदेना हूं शौच भी दो प्रकार के तब पहले बोल दिया है बाहर भीतर की सिद्धि यही है शौचम का क्षमा नाम आकृष्ट से ताड़ित सेवा मनसी विकार राहित हमारे प्रति आकृष्ट हो गया कोई व्यक्ति अथवा हमारे लोग परेशान कर रहा ताड़ित परेशान कर रहा हो उसके प्रति क्षमा करना मन में कोई विकार नहीं आ विकार नहीं होना चाहिए कोई विकृति न हो मन में शांत रहे उसका नाम क्षमा ज्ञानम ज्ञान विज्ञान वास्तविक बोला ज्ञानम माने शास्त्रीय पदार्थ ज्ञानम तो शास्त्रीय ज्ञान होगा ना परोक्ष ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान जैसे स्वर्गो अस्थि ऐसा बोला देखा नहीं है अपरोक्ष नहीं हुआ वो शास्त्रीय विषय का ज्ञान को ज्ञान का विज्ञान में शास्त्रार्थ से स्वानुभव पर्यंत तो अपादान विज्ञान का अर्थ माने उसको साक्षात्कार में पहुंचाना अभ्यास के माध्यम से अनुभव में उतारना वह विज्ञान ज्ञान और विज्ञान का यह अर्थ है कहा विज्ञान माने शास्त्रार्थ शास्त्र में कहा गया जो विषय है जैसे जीव ब्रह्म का ही बताता है शास्त्र स्वानुभव पर्यंत तो आपादान अपने अनुभव के तक पहुंचाना उसको किसमें पहुंचाना शास्त्र में जो कहा गया विषय को अपने अभिनत्व तो पहुंचाने का विज्ञान विशेष ज्ञान यही है त्रिधा व्याख्यात्म स्वभाव शब्द अर्थों के तहत देखो स्वभाव शब्द अर्थ भाषिका ने तीन प्रकार की व्याख्या की थी स्वभाव प्रवाही गुण ही कहा था उसका तीन प्रकार की व्याख्या की थी जो कि इकतालीसवें श्लोक में तीन प्रकार की व्याख्या की थी प्रकृति को स्वभाव कहा गुण को स्वभाव कहा अथवा पूर्वकृत कर्म का संस्कार को स्वभाव कहा तीन प्रकार की कहा है यही है त्रिजा व्याख्यातम तीन प्रकार से जो व्याख्या की थी स्वभाव शब्दार्थ प्रत्यय स्वभाव शब्द का स्वीकार करके तीन प्रकार की स्वीकार करते हैं यदुक्तम इत्यादि भाषा में कहा था यदुक्तम स्वभाव प्रवेश गुण प्रवक्तानी कर्माणी इत्यादि कहा था तब तक स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण कर्म प्रवृत्त है कहा था विभक्त है कहा था तदेव स्वभाव जब उसी को स्वभाव जब यहां पूर्व श्लोक में जो स्वभाव प्रवीर गुण कहा था चालीसों में इकतालीस बयालीस श्लोक में आकर के बोले स्वभाव प्रवजन गुणम बोल दिया स्वभावजन करके यहां बोला उसी को बोला जो पहले वो स्वभाव प्रवीर गुण कहा यहां स्वभावजन बोला वही बात है कहा आगे टीका में आगे भाष्य श्लोक शौर्य तेजो धृतृदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम ज्ञान भाव छात्रम कर्म स्वभाव शौर्य तेजो धृतृदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम ज्ञान भाव छात्रम कर्म स्वभाव अक्षत्रियों का कर्म दूसरे जाति का कर्म ब्राह्मण के कर्म बता दिया अब क्षत्रियों का कर्म शौर्य सूरता शूर शूरपणा जन जन्मजात ऐसा होगा उनका गुण कर्म तेज प्रागल्भ एक आना मतलब दूसरे से दबना नहीं दूसरे को दबाने की शक्ति हो धृतेर बार धैर्य माने समय पर धीर हो धैर्य हो दाक्षम चतुर हो कुशल हो कुशलता युद्धे चाहती अपलायन युद्ध में पलायन नहीं होना भागना नहीं भागने वाला डरपोक होता है क्षेत्रीय डरपोक नहीं होता अपलायन कहा अपलायन नहीं होना दानम मुक्त हस्त होगा देने के लिए ईश्वर भाव ईश्वर में आस्था रख बड़े शासक भाव है उसमें ईश्वर भाव बड़े शासक बना शासन करने का क्षात्रम कर्म स्वभावजम ये क्षेत्रियों का कर्म होता है स्वभावजन्य कर्म स्वभाव कर्म तीन प्रकार किया हुआ है चाहे प्रकृति के आधार पर हो चाहे गुण के आधार पर हो वहां सतुगुण उपसर्जन है रजगुण प्रधान है उसके कारण हो अथवा पूर्वकृत कर्मों के संस्कार के कारण हो वर्तमान जन्म में स्वभाव जन्म कहा जाता है स्वभाव वो तीन प्रकार के स्वभाव बताया हुआ है उनमें से कोई भी लेकर के उससे जन्य ये कर्म होते हैं कौन कर्म सौर्यादि कर्म क्षेत्रों का ही कहा ये भाष्य में कहा शौर्यम सूर भाव सूर्य से भाव शौर्य भी होता है सूरवीर में रहने वाले धर्म को शौर्य कहा जाता है सूरत तो बोलो सूरता बोलो शौर्य बोलो एक ही चीज होता है तेजवान प्रागल्भ्यम जो दूसरे से दबता है दूसरे को दबाने की शक्ति है दूसरा व्यक्ति डर जाता हो राजाओं में ऐसी शक्ति क्षत्रिय धृतिर्मा धारण धैर्य सर्वावस्थाया सर्वावस्थायाम सर्वावस्थासु अवसादो भौतिक कहते हैं यह धृत्या उत्तम मित्र से कहा जिस धैर्य से उठा हुआ व्यक्ति होगा किसी भी अवस्था में गिरता नहीं है झुकता नहीं है धैर्य लिए बैठता है कैसी भी आपत्ति आ जाए क्षत्रियो सहन करने की शक्ति होती है अन्य में इतनी शक्ति नहीं होती एक बार कहते हैं परशुराम जी गए थे द्रोणाचार्य के पास भीष्म भीष्म के पास ब्राह्मण बन के गए धोती धोती पहन करके ब्राह्मण बन के गए कर्ण था कर्ण कर्ण गया कर्ण गया भीष्म के पास ब्राह्मण बोला पढ़ाते रहे एक दिन परीक्षा किया भीष्म ने कि ये ने परशुराम ने परशुराम की बात है परशुराम ने परीक्षा की ये वास्तव में ब्राह्मण है कि अन्य जाति है तो वो जानबूझ के सो गए उसके जंगे में सिर रखे सो गए हाँ, उसके जंगा पर सिर रखे सो गए वो सेवा कर रहा है एक जो बड़ा मक्खी होती है बड़ी मक्खी होती है ना डांस बोलते जिसको वो आकर के उसके जंगल पर काटना शुरू कर दिया वो काटती है तो खून आने लग जाता है खून की धार बह जाता है अब वो सोचता है कर्ण सोचता है कि अब ये घुटना को इधर उधर करो तो गुरु जी को विक्षेप होगा और शांत तो नहीं हो रहा है फिर भी शांत करके बैठा होगा बाद तो में जब गुरु जी उठे विश्व उठे परशुराम उठे देखा खून की धार चल रहा है और सहन करके बैठा हुआ है तो ताड़ गए कि ये ब्राह्मण नहीं होता ब्राह्मण तो इतना सहन नहीं कर सकता जरूर क्षेत्रीय है ये कि चोरी से मेरे पास आया इसे पकड़ा ऐसा कहते हैं तो <clears throat> धैर्य होता उनमें ये कहना है तो कहा शौर्य मन शौर्य मन सूर्य से भाव सूर्यवीर में रहने वाले जो धर्म होगा ना तो शौर्य बोलते हैं उसको तेज मन प्रागल्भ्यम दूसरे को दबाने की शक्ति धृतिर्मण धारण सर्वावस्था सर्वावस्थासु अवसादो होती यया धृतिया उत्तम जिस धृति से उठाया हुआ होगा जो व्यक्ति हर परिस्थिति में गिरता नहीं अवसाद नहीं होता खिन्नता नहीं आती जीवन में उसकी धैर्य धारण करके रहता वो गुण होता है क्षेत्रों में जन्मजात दाक्षमण दक्ष स्वभाव मैंने सहसा प्रतिपन्नसु कार्यसु अभ्याम प्रवृत्ति यथाक्ष ये होता है एकाएक कार्य प्राप्त होने पर माने अविवेक पूर्वक विवेक से काम करने वाली की शक्ति होती है वो दक्ष है चतुर्था चातुर्य वो शक्ति है युद्धे चापी अपलायन कहा था अपरामुखी भाव युद्ध में भी स्थिति क्षेत्र में की परामुखी भागेगा नहीं अरे मरना स्वीकार करेगा भागेगा नहीं शत्रु पे कहा शत्रु से भागता नहीं है परामुख नहीं हुआ दानम देश मुक्त हस्तता का देने योग्य वस्तु में मुक्त हस्त होता है कुछ भी देता है क्षति में ऐसा स्वभाव होता है ईश्वर से भाव से से भाव कहा ईश्वर भाव है ईश्वर का जो भाव है ईश्वर से भाव ईश्वर भाव सठी समास है प्रभु शक्ति शासन करने की शक्ति जनजात होता है प्रकटीकरण प्रभु शक्ति शासन करने की शक्ति तो प्रकट करना इसी तब्यान तो प्रति जो शास्य है शासित है उनके प्रति शासन करने की शक्ति होती है स्वभाव स्वभावजम कहा छात्रगम है क्षेत्रीय जाति भीतम कर्म क्षेत्रीय जाति के लिए भीत कर्म है कोई तीन कारणों में से कोई कारण लेकर के चाहे प्रकृति चाहे गुण चाहे संस्कार पूर्वकृत से संस्कार के आधार पर होता है कहा छात्र कर्म जो कहा हुआ है टीका होगा सूर्य स्वभाव विक्रम पराक्रम है ना बलवत्तांत भी प्रहतुम प्रवृत्ति अपने से बलवान को भी मान मारने के लिए जाता है वो एक आदमी छोड़ता नहीं है उसका स्वभाव ऐसा क्षेत्रियों का यही बलवत्तरान अपने से बलवान है वो उस उनको भी प्रहर तुम प्रहार करने के लिए प्रवृत्ति होती उनकी वो भागता नहीं है किसी से यही है उसका अर्थ विक्रम पराक्रम सूर्यभाव का अर्थ यही है प्रागल ने परेर आदर्शन यत्नों का दूसरे को तो दबाया नहीं जाता ऐसा क्षेत्रीय में गुण होता है महत्या में भी विपदी देहेंद्रिय देहेंद्रियो देहेन्द्र उत्तम भनी चित्तवृत्ति धृति इति मैंने ये धृति का कहा था धृति का अर्थ क्या धैर्य धैर्य कैसा है महान विपत्ति आने पर भी उसमें भी धैर्य रखता है क्षेत्रीय का अन्य जाति धैर्य नहीं रख पाएंगे महत्याम विपत्ति महान विपत्ति में भी देहेंद्रिय उत्तम बने चित्तवृत्ति देह को और शरीर इंद्रियों को माने गिरने न दे शिथिलता आने न दे ऐसे जो चित्त वृत्ति है धृति चित्त की वृत्ति है धैर्य इति व्याख्या से उसको कहा सर्वावस्था से कहा था सारी अवस्था में बड़ी बड़ी आपत्ति अवस्था में भी धैर्य रखनी शक्ति होती है आगे दक्ष स्वभाव दक्ष स्वभाव दाक्षम दक्ष का दक्ष में रहने वाले धर्म को दाक्ष बोला जाता है चातुर्य कुशलता यही है सहसा इत्यादि कहा था भाष्य में इसका सहसा प्रतिपल उत्पन्न एकाएक आगे कोई सामने विषय बना एकाएक निर्णय करने की शक्ति होती है दक्ष ये तत्व यही है सहसा प्रति उत्पन्न सुखायसु अव्याम है ना प्रवृत्ति मैं अविवेक पूर्वक विवेक पूर्वक है करना है नहीं करना है क्या करना है निर्णय ले लेता है कहा स्वभाव वस्तु प्रवर्तते कहा हुआ था पहले यही होगा स्वभाव वस्तु पूर्वत स्वभाव तो पहले जैसे कहा वैसे तीन प्रकार के हैं स्वभाव क्या है या तो ईश्वर की प्रकृति माया त्रिगुणात्मा माया को स्वभाव कहना है या गुणों का स्वभाव कहा हुआ है इसके बाद गुणों का स्वभाव क्या है सत्गुण उपसर्जन है और रजगुण की अधिकता है क्षेत्रों में यही है उसी को स्वभाव लेना यथा पूर्वकृत कर्म का संस्कार उसके कारण से कहा हुआ ये कहा समय हो गया है नहीं रखते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णापूर्ण पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति